को देख करके वह से होकर करके गदा होकर के उनके सामने आया मेरे हे कृष्ण तुम आपके मन दृष्ट का तुम लगा कृष्ण आज तुम मेरी आंख नेत्रों के सामने आ गए ये बड़े मंगल की बात है आज मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है तुमने अपनी मामा को अपने हाथ से मारा आज मैं तुमको अपनी गदा से अपस्थान गदया हम इससे गदा से तुमको यमलोक को पहुंचाया ऐसे रूक्ष वाक्यों से भगवान को भगवान के प्रति अनेक वचनों को कहा उसने और भगवान के मस्तक पर उसने गदा मारी भगवान ने उसका प्रहार सह लिया और अपनी तोमोद की गता से कम बक्षस करे उसके हृदय अपनी तोमोद की गदा की जन्म वक्त करते हुए भीतर वो गिर गया और मर गया तदा सर्वेशम पश्यता पश्यताम प्रदत्तम भी कृष्ण प्राविशा उसके शरीर से जो जीव ज्योति रात ज्योति निकली भगवान श्री कृष्ण ने लीन हो यही कौन तो भगवान के पास थे ना संत वक्त शिष्टा Thank you. बंगाल जी ने देखा अब ये कौरव पांडवों का आपस में युद्ध होना निश्चित हो गया अब बात समझाने की नहीं रही युद्ध होना निश्चित है किसी न किसी का पक्ष हमें लेना ही पड़ेगा इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा के बहाने से वहां से चल दिए चार प्रभाव से स्नान प्रभास क्षेत्र में स्नान किया देवताओं ऋषियों का वहां तर्पण किया संत शंकर का सम्मतम सरस्वती ले तो वहां से सरस्वती नदी को चले गए फिर बिंद सरोवर सुदर्शन तीर्थ गए ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ यमुना गंगा तीर्थान जत्वा जहां ऋषि लोग सत्र कर रहे थे नैमिषारण में वहां नहीं शरण में पहुंचे बलदारू जी ऋषियों ने बलदारू जी को आया देख करके सबने उठ करके उनका स्वागत किया रामा उत्थान सब ऋषियों ने तो उनका स्वागत सत्कार किया और देखा कि रोम हर्षण जो है बैठा रहा इसने उठ करके हमारा स्वागत नहीं किया अहो असौ ब्राह्मण क्षत्रिया था विलोमत है ब्राह्मण से ब्राह्मण में क्षत्रि से उत्पन्न हुआ गया है अतो विपरीत है इसलिए सूत है परशुराम जी ने एक कुशा हाथ में लेकर के उन्होंने कहा ये वृथा पंडित मांग अनम्र है अनम्र से दुआया न हो दिन था जब सूत जी को मारा है तो अषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वारसी थी पूर्वान बेलायाम पहर से पहले ही ये पदम पुराण का वचन है इसलिए पुराणों के वक्ता सूच जी थे द्वादशी के दिन उनकी मृत्यु हुई है तो द्वादशी के दिन पुराणों का अनध्याय रहता है यद्यपि एक ही द्वादशी को रहना चाहिए जिस द्वादशी को मारे गए होंगे और द्वादशी मात्र का ही अनध्याय है जब पुराणों की कथा होती है तो द्वादशी का अनध्याय द्वादशी को कथा नहीं ऋषि लोग जो है खिन्न हो गए सब दुखी हो गए महाराज आपने ये क्या किया यार सत्यम समाप्त थे तावत अस्मात ब्रह्मासन आयुष्ट रत्तम सत्य की समाप्ति तक हमने ब्राह्मण का आसन को तो दिया है आयु भी दी है आपने आप इस बात को जानते नहीं थे तो ये तो इनका बल तो ब्राह्मण बल के समान है यद्यपि शास्त्र तक कोई आज्ञा आपके ऊपर नहीं है ये आप तो बुद्धि को पार कर चुके हैं और तो भी लोगों को शिक्षा देने के लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए बलदाऊ जी बोले अच्छा प्रायश्चित बताओ इसलिए प्रायश्चित कर जाए तो यह मुख्यम करता चुका हूं बहुत छोटा मोटा प्रायश्चित मत तो हूं जो मुख्य प्रायश्चित हो उसे बताओ ठीक उस प्रायश्चित को करें और उसको एक दीर्घ मारू बलन से फिर इसको हम दीर्घ आयु दे दें सरलता है उसकी तो तो मृत्यु जो आप आप से मारे गए वो भी शक्ति रहे और हमारा भी कारण चलता और उन्होंने किया बंगाल ने आत्मा वही पत्र नामा से जो पुत्र होता है पिता का ही स्वरूप होता है इसलिए देखो उनका पुत्र जो उग्र सभा है तो उसको हम आयु देते हैं बल देते हैं और उसका पुत्र पुराणा का वक्ता होगा वो तुम्हें कथा सुना कर बोलो और तुम्हारी क्या अच्छा है क्या मानते ऋषि बोलो बोले महाराज यहाँ बल्लल जो है इंद्र का पुत्र बल्लल परत परत पर जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ को दूषित कर देता है हम पापिष्ठम जय इस दुष्ट को मार दो और अतस्तम भारत भारतवर्षम प्रदक्षिण करते भारतवर्ष की प्रदक्षिण गया और मर गया ऋषि लोगों ने बलराम की जगस्थिति की और उनके बैगों की माला दी जो वस्त्र दिए बलदार जी ने तो कौश की नदी में स्नान किया और वहां से तब कृष्णार्थ का सरोवर यथा सरयू का स्रोत उस तालाब में गए जहां से सरयू नदी वो प्रयागराज गए खुला आश्रम में गए गौम की थी सब जगह उन्होंने फिर गंगा धारा पहुंचे जहां तप गोदावरी भीम रखी श्री शैल सब जगह की समझी काम कोशनी कांचीपुरी श्रीरंगम तट ब्राह्मण दो एक भ्रमित जड़े जाकर के वहां दस हजार कल्याण बताने की तो तुम्हारा आश्रम करनी बुलाकर वहां अगस्त जी का दर्शन किया जब दक्षिण समुद्र पर पहुंचे कन्याकुमारी नए से तथा पीड़नाम त्रिगताम देशान गत्ता इन देशों में घूमते हुए गोकर्णाश्रम सुरक्षित करना रखते और भगवान शंकर का जो क्षेत्र है गोकर्ण यहां आए और फिर जो है वेदान अगमत जहां हमारे स्मृति पूरी है वहां नर्मदा किनारे पहुंचे पत्र दुबई का पूर्व कुरतांडल युद्ध ब्राह्मणों से समान क्या गौरव पांडवों का महाराज युद्ध हो गया बड़ा भारी प्रसन्न का भार टूट गया इस समय दुर्योधन और भीमसेन लड़ गए हैं भाषा दो आप दो बीस और फिर उनको देखने के लिए बंदा दिया भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथों में गदा लेकर के लज्जित रहे दुर्योधन से कहते हैं हे राजन बलदाऊ जी ने कहा हे राजन और भीमसेन से कहा हे प्रकोदर दुर्योधन तो उनका शिष्य था ना तो इनका स्नेह तो दुर्योधन को तो राजा के करके संबोधन किया हे राजन हे बटोदर घोड़ी आके दुखे पुराने अरे युवान तुम बल देखो तुम दोनों बराबर के बलवान हो अरे एक में कुछ बल अधिक है तो एक गदा की शिक्षा गदा चलाने में सफल है भीमसेन में कुछ बड़ा रखे तो ये गदा जो तुम ही चतुर रहते हो उनके देश तो तुम्हारा देश राजा नहीं मालूम होता द्वैत क्यों लगते हो ऐसा कहने पर न तो भीमसेन ने मानी उनकी बात सुनी न जी और तो बलदाव जी कहा करो तो दही है बस उनको तो मरना ही है लड़ना ही है कहना उपदेश करना उनको व्यक्त यहां से बलदाजी चल गए और फिर पुनर्निमिषण जलाना फिर निमिषारण में चले गए तो बलदाजी ग्रहण यज्ञ मूर्ति रामन मूर्ति आ गया और आया गया सुखदेव जी कहते हैं राजन पतिव्रता थी अपने पति की आज्ञा मानती थी एक दिन किसी तरह से उसको जब ये पता चला कि हमारे पति भगवान श्री कृष्ण के साथ पहले विद्यालय में गुरुकुल में पढ़े ये जब उसे पता चला तो एक दिन बड़ा साहस करके प्राप्ति हुई शिष्ट बदना और अपने पति के पास जाकर के बोली हे ब्रह्मन और साक्षात तुम पते तो ब्रह्मण ने भगवान सखास मैंने ये सुना है तो साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं और ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं आपकी ये दशा जब देखेंगे वो तो आपको बहुत संपत्ति धन हो जाएगी बिना मांगे तम तम गच्छ उद्यम धन दास तो हमारा सारा संकट कट जाएगा निवृत्त हो जाएगा और वो आजकल द्वारका में रहते हैं वो तो अपने भक्त के लिए अपने आप को भी दे देते इतने उदार स्मरता पूछा आत्मानक दास को अर्थ कामों के अर्थ किम किम पुनः अर्थ काम इस प्रकार कर करके बड़ी नम्रता से उनकी पत्नी ने निवेदन किया रामा ने विचार किया ये विचारी कभी कुछ हमसे कहती करेंगी आज बड़ा साहस करके हमसे कह रही है चलो इस बहाने से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी हो जाएगा ये बड़ा बड़ी बात है हम माने में मंदिर तो कुछ है नहीं पर श्री कृष्ण का दर्शन कर हो ऐसा करके उन्होंने निश्चय कर अच्छा अगर आप कहती है तो हम भगवान की तरफ जाएंगे और जो कल्याणी ग्रह खींचे तो कहा नमस्ती पर वहां के लिए कुछ उनको भी हम भेज ले जाए खाली हाथ को नहीं जाना चाहिए घर में है कुछ वो तो आपको भी घर में क्या था घर में तो मुंह से भी भूखे मर रहे हैं योग करते हैं यहाँ क्या ग्रह किन से पाए नमस्ते के दिए कहाँ को धो तो लाओ और वो तथा शास्त्री चतुरो मुक्ति तथा का कंगना निराचित था वो पड़ोस में से इधर उधर से वो तो चार मुक्ति चेंगे चेंगा है तुम चेंगा है छुटे हुए मांग करके लाए और उन्होंने एक पते से पुराने से वस्त्र में ये करके उनको दे दिया हर प्रेत राधा उनको लेकर के भगवान के पास चले राम भीड़ का मरियम कृष्ण दर्शन कथन क्या कि चिंतन भगवान श्री कृष्ण का हमको दर्शन होगा या चिंतन करते हुए द्वार साथ चले तथा सा पूरी सैन्य स्थानीय सैनिकों की जो छावनी है उन छावनियों को पार करके तीन गौरियों को पार करके और आगे बढ़े विष्णु आगे इन दोनों को पार करके ग्रहेश मध्य हरे सोलह सहस्त्र नाम ग्रहेश मध्य सबसे बड़ा सुंदर बीच में जो लक्ष्मी जी का है रखनी जी का उस धर्म में प्रवेश किया भगवान श्री कृष्ण ने दूर से देख लिया दूरा विक्रम विरोध के दूर से उस ब्राह्मण देवता को देखा तो भगवान कलम पर बैठे थे सिंहासन पर बैठे थे खट से दूर से खड़े हुए और कॉल करके वहां आए और सदाना को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया मुदा लिंग राम बड़े हर्ष से प्रेम से सुदामा जी को हृदय से लगा दिया अब अपने मित्र के अंग संग से भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आनंद आया प्रेम के आंसू उनके आंखों में आ गए और उस ब्राह्मण को अपने पलंग पर उन्होंने बैठाया स्वयं उनको कसमन उदाहरण है श्री तो के चरणों को धोया और उनका वो जल लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर छिड़का और लोगों ने देखा गुरु परिवार ने कि ये ब्राह्मण का स्वयं धोते ने छिड़का है तो महाराज तौर पर ही सब है महाराज मुझे बोले दो दो सब छिड़क रहे हैं सुदामा जी देख रहे हैं का भगवान का तो भगवान ने चंदन के साथ पड़ा हुआ चंदन कम जनपद चंदन उनके सारे शरीर में भगवान ने लगाया धूप दीप और इस तरह से उनके सब भगवान ने पूजा की काम भोजन कराया फिर उनको प्राण दिया एक करूंगा उनको मेरे दिन की तदागतमी मलिनम कुचलिनम सुबह व्याप्तम भुजम जब भगवान ऐसी सेवा कर रहे हैं तो रुक्मिणी जो है उनका लेकर के उनकी हवा करनी थी ब्राह्मण कैसे फटे पुराने थे उनके वस्त्र थे मलिन थे उनके शरीर की एक एक नस चमक रही थी शिराभुर व्यापन तथा कृष्ण ने प्रीत क्या सत्य तो भगवान ने सुधारा का बड़ा स्वागत किया उस अद्भुत को देख करके हम तत्व के और स्त्री को कहने लगे आपसे इसको हो गए अरे इस ब्राह्मण ने पहले क्या तपस्या की है कि भगवान की इसका इतना स्वागत सत्कार कर रहे हैं देखो अपने पलंग पर साक्षात श्री कृष्ण ने इसको बिठाया है लक्ष्मी जी इसका शंका कर रहे हैं आपस में बातचीत करने लगे भगवान बोले अरे गुरुकुल से आकर के सुदाना जी उनको अनुकूल स्त्री मिल गई तुमने विवाह कर लिया तुम भारिया करने का लगा <coughs> सुदाना जी को यहां महाराज आपकी पिता से विवाह कर गया भगवान बोले हम पहले जानते थे तुम्हारा संसार में मन को तुम्हारा विषयों में क्या सबसे पहले भी नहीं था ये हमको पहले विदित हुए हे जी हम लोग जब गोकुल में रहते थे समय की तुम्हें बात कुछ याद है यह संसार में प्रयोग होगा भगवान कहते हैं संसार में तीन गुरु माने जाते हैं एक तो जहां जन्म होता है वो पिताई गुरु है प्रथमो गुरु और जो यज्ञोपनीत कराता है वो आचार्य गुरु होता है तथोपनी में वेदाध्यास को द्वितीय गुरु और सर्वेशा आश्रम की ज्ञान तो यह सब साक्षात हमें और फिर तीसरा गुरु होता है जो आत्मज्ञान प्रदान करता है भगवान कहते हैं उनका तो मेरा ही स्वरूप होता है अतो ज्ञान प्रदम गुरु का मान सोता अवारणम करण ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु के प्राप्त करते लोग संसार सागर से पार होते हैं ब्रह्म गुरु शुश्रूषा से जैसा मैं प्रसन्न होता हूं और ग्रह आदि का अन्य धर्मों से वैसे मेरी प्रसन्नता नहीं होती देखो एक बार हम तुम हमारी दो पत्नी जो है माता जी ने हमको कहा बेटा लकड़ी लाओ तो भेज दिया हम लोग उनकी आज्ञा पा करके लकड़ी लेने गए तब जब हम लकड़ियों के गट्ठर बांध बांध के सिर पर के ला रहे थे तो एक साथ बड़ी वायु आई मेघ आया सूर्य अस्त हो गया बड़ी वर्षा हुई और इतनी वर्षा हुई तो वहां कुछ दिखाई नहीं दे जल ही दे कभी हम गड्ढे में गिर जाए कभी नीचे पे आ जाए सिर पर लकड़ियां उठा रखे बोले रात्रि भर हम तुम ऐसे ही घर में घूमते रहे हमें रास्ता नहीं मिली वर्षा होती रही हवा चलती रही शरीर पर पहने हुए हम लोग कुछ नहीं थे ठंडी की मारे हम कांप रहे थे सिर पर रोजा रखा था रात भर बोले हम तुम ऐसे घूमते रहे जंगल में प्रातःकाल हुआ जब गुरु जी पढ़ने के लिए हमको बुलाया हम वहां गई तब पता चला करें तो कल लकड़ी लेने को भेजने भी आए ही तब गुरु जी हमको देखते हुए जंगल में पहुंचे और जब उन्होंने हमको देखा ये बच्चे कांप रहे हैं सिर पर लकड़ी रखी है एक उठ लगा अरे अस्मदर्थ से ही हम भूषण उठ लगा गुरु जी ने कहा तुम हमारे लिए बड़ा कुछ पाया बेटा हो तुमने ये प्राणियों को तो अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है इसलिए सचिव गुरु प्रत्युत्पाद वही शरीर करते हैं बढ़िया से सुगम होते हैं तो इस तरह से तन मन से गुरु की सेवा करें एक तो श्रेष्ठा है अब बताओ मैं तुम्हारे ऊपर फसल नहीं तुम्हारे मनोरथ सब सफल हूं छंदांसी हृदय अरक्षाराम भवन वेद तुमको सदा पंथ रहे हैं कभी भूले भी नहीं ऐसे बोले हमको तो आशीर्वाद दिया गुरु जी ने गुरु प्रसाद में ज्ञान पूर्ण होती गुरु जी की कृपा से मनुष्य पूर्ण रहता सुदामा जी बोले हे देव देव हम तो इसीलिए प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो आपके साथ हम कुछ दिन जो तुमने कर रहे हैं मनुष्य नहीं सकते स्पष्ट कर है ब्रह्मांड कृष्ण अकेले तो प्रेरणा भगवान बोले हे ब्रह्म अब ये बताओ जब वहां से आए होगे कुछ भेद पर आए होगे हाँ। ग्राहक मरियम के मान क्या लाए मेरे लिए मेरा भक्त प्रेम से थोड़ी भी वस्तु अगर देता है मैं उसे बहुत समझता और नहानी नानीतम और बिना भक्ति जो तो कुछ भी हमको अर्पण कर दो हाँ। मन से जी हुई वस्तु मन से स्वीकार करते मन तो छोटा होता थोड़े नहीं संतुष्ट हो और फिर मन से देगा तो हम विराट रूप से स्वीकार करते हैं कुछ भी दे विराट के लिए क्या करते हैं हाँ। बोलो मन से प्रेम से हमको जो देता है यही का श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम फूलम अरे तुलसी का पत्ता हो चाहे तो ये पुष्प हो फल हो जल हो भक्ति से जो मेरे को होता है पहला तो से हम तो उसको प्रेम से स्वीकार करते अब भगवान ने ऐसा कहा तो ब्राह्मण देवता वो भगवान का भैया देख करके वो राम उनका उतर गया और उनको देख करके उनको कैसे निकाल उसे चाहिए पुराने के वस्त्र में बगल में दबा रखे हुए लग आराम का जब भगवान को लाया भेद क्या लाए और तो नीचे को निकल लिया और अपनी गांठ निकाल कर दी भगवान को सब मन के भी साथ थी वो पता ही था हाँ, भगवान ने अयम पूरा ही कामना नाम ना यदि ब्राह्मण ने कभी लक्ष्मी के लिए मेरी प्रार्थना नहीं की है इस समय अपने पत्नी की कहने से मेरे पास आया तो अभी मैं इसको ऐसी संपत्ति प्रदान करूंगा जिसको देख करके देवता भी जल से भगवान ने संकल्प कर लिया भगवान ने संकल्प करके जो उनकी बगल में जो लगे उससे कहा चार लोग की बात की